कम सुने गीत नमस्ते दोस्तों आज के इस कम सुने गीतों के कार्यक्रम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं। पिछले कार्यक्रम में मैंने ऐसी फिल्मों के गीत सुनाए थे जिनके टाइटल से फिल्में कई बार बन चुकी हैं। आज मैं ऐसी फिल्मों के गीत सुनाने वाला हूं जिनके हिंदी टाइटल भी थे और इंग्लिश टाइटल तीस के दशक में ये बहुत सामान्य बात थी और चालीस के दशक तक ये ट्रेडिशन चालू रहा तब पोस्टरों पर भी इंग्लिश और हिंदी नाम दोनों होते थे ताकि सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके फिल्म की ओर ऐसी एक फिल्म थी टेन जिसका दूसरा नाम था दस बजे यानी यह अंग्रेजी नाम था जिसका हिंदी नाम दिया गया था उन्नीस में भी इसी नाम की फिल्म आई थी जिसके भी ये दोनों नाम थे लेकिन आज आप सुनेंगे 1942 की फिल्म टेन ओ का गीत परेश बैनर्जी और साथियों की आवाज में उसका गीत अब सुनेंगे जिसका संगीत दिया है केशवराव भोले ने और गीत लिखा है पंडित मुखराम शर्मा अशांत ने उसने कहा उनका देखो अगला गीत है फिल्म 300 डेज एंड आफ्टर से जिसका दूसरा नाम था 300 दिन के बाद जो 1938 में आई थी गा रही हैं 30 के दशक की सुपर हिट हीरोइन बिब्बो जिनका असली नाम इशरत सुल्ताना था और ये सिंगर होने के अलावा पहली महिला फिल्म कंपोजर भी थी हिंदी फिल्मों में उन्नीस की फिल्म अदले जहांगीर के साथ अनिल विश्वास का संगीत है और बोल है जिया सरहदी जी के जमुना गीली मात जयो राध जमुना कॾहिं जमुनार गीत जमुनार कीअ મુના કે નિદતિ બે આ તુ ગઉ બે જરા મે મુના કે નિદ जमुना थी जमुना थी दादा जमुना अगला गीत है उन्नीस की फिल्म आदमी यानी लाइफ फॉर लिविंग से गाय है शांता हुबलीकर राम मराठे और साथियों ने मास्टर कृष्ण राव का संगीत है और बोल है मुंशी अजीज के सुनिए क्या मुझे करके अगला कम सुना गीत अपने जमाने में काफी पसंद किया गया था पर अब इतना सुनने को नहीं मिलता फिल्म है 1943 की आगे कदम जिसका दूसरा नाम था फॉरवर्ड मार्च गाया है मोतीलाल ने कैलाश मतवाला के बोल है माधवलाल और रामचंद्र पाल का संगीत था इस फिल्म में सुनिए वो रूठे हुए है। रूठे हुए हैं मनाना पड़ेगा वो रूठे हुए हैं मनाना पड़ेगा ये वो राज है जो छिपाना पड़ेगा ये वो राज है जो छिपाना पड़ेगा छिपाना पड़ेगा वो रूठे हुए हैं मनाना पड़ेगा वो रूठे हुए हैं बनाना पड़ेगा बला बन गई उनकी बेतुमारी समाई है दिल में यह है बेकरारी दिलाम मैं क्यों कर यकीन को अपना उन्हें उन्हें एक दिन दिल दिखाना पड़ेगा उन्हें एक दिन दिल दिखाना हो हो दिखाना पड़ेगा पड़ेगा रहम करना आए हमारे किए पर रहम करना आए हमारे किए पर तरस खाओ हैरा तरस खाओ इस अपने डिग्री दिए पर तरस खाओ जी हाँ रखा वो इस अपनी डिग्री दिए पर अगर खुल गई ये बनावट खावट अगर खुल गई ये बनावट खावट बिस्तर यहाँ से उठाना पड़ेगा तो बिस्तर यहाँ से उठाना जी हाँ, उठाना पड़ेगा वो रूठे हुए मनाना पड़ेगा वो रूठे हुए अगला गीत है 1940 की फिल्म आज का हिंदुस्तान से जिसका दूसरा नाम था इंडिया टुडे गा रही हैं उस दौर की मशहूर नृत्यांगना गायिका और अभिनेत्री सितारा देवी खेमचंद प्रकाश का संगीत है और गीत लिखा है दीनानाथ मधु ने भवरा मतलब को पहचाने जो पहचाने भवरा मतलब को तो पहचाने प्रीत करण की प्रीत न जाने प्रीत करण की प्रीत न जाने भवरा प्यार की बातें मौत की बातें प्यार की बातें मौत की बातें गीत के गीत हैं हाय रुना जाने राजन हमको छोड़ गए हैं मैं मानू मोरा मन नहीं माने मैं मानू मोरा मन नहीं माने मैं मानू मोरा माना ना कार्यक्रम समाप्त करने की घड़ी आ गई है ये गीत है 1934 की फिल्म आजकल से जिसका दूसरा नाम था टुडे गा रही है शांता कुमारी संगीत है एस पी राणे का बोल है नरसिंह मेहता के मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनिए ये अंतिम गीत धन्यवाद कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी राय हो कोई फीडबैक हो मुझे अनमोल फनकार at Gmail dot com A N M O L F A N K double A R at Gmail dot com पर जरूर भेजें मुझे यानी गजेंद्र खन्ना को दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में सी यू सून